बार बार प्रभु चह उठावा प्रेम मगन ते उठबन उठ बन भावा प्रभु कर पंकज कपि कय शीसा सुमिरी सुदशा मगन गौरी सावधान पुनि संकर लागे कहन कथायति सुन्दर कपि उठाय प्रभु हृदय लगाबा करगहि पर निकट बैठा प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना उठना सुहाता नहीं प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया कहु कपिरावन कहे दहे दुर्गयति बंका प्रभु प्रसन्न जा हनमाना बोला बचन दिगत यभिमा शाखा मृग के मल मनुषाए शाखा ते सा खा पर जा तकपुर जारा निशर गण विधि विपिन उजारा हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला सो सब तब प्रताप रघुराए नाथन कछ मोरी प्रभुताए ताकह प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बड़वान लहे जार सके खल तोल यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका प्रताप है हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है नाथ भगति सुखदायिनी कृपा अन्नपयलि सुनि प्रभु परम सरल कपिबानि तब कहेबु भवानि उमा राम सुभाव जा